अन्य देव विदिता अथवा अविदिताद अधि इसी मंत्र आगम का अर्थ किया विदित अविदित से भिन्न तो ये कहन से शुद्ध नित्य एक ही आत्मतत्व है अपन आत्मस्वरूप ही है विज्ञान अनपेक्षम अविदित भी नहीं कह सकते ब्रह्म को क्योंकि विज्ञान निरपेक्ष है विज्ञान अनपेक्षम विज्ञान स्वरूप है जिस प्रकार प्रदीप प्रकाश स्वरूप है स्वतः ही अनपेक्ष सिद्ध है प्रकाश नहीं प्रदीप स्वरूप अभिव्यक्तो अंतरम अन्य तो अपेक्षते सतोवा अन्य से दूसरे प्रकाश की अपेक्षा करे प्रदीप अपने अभिव्यक्ति के लिए अथवा अपने प्रकाश की अपेक्षा ऐसा नहीं यद्यनपेक्षम तत् तत्स्वतैव सिद्धम जो अन्य निरपेक्ष है स्वत सिद्ध है प्रकाशात्मकत्वात् प्रदीपस्य अपेक्षितोपि अनर्थक स्यात् प्रदीप स्वयं प्रकाशात्मक अपेक्षितोपि स्वरूप अभिव्यक्ति के लिए प्रकाश अपेक्षित है तो अपने स्वयं स्वरूप है उसका कोई प्रयोजन नहीं अपेक्षितोपि अनर्थक प्रकाश स्वयं है अन्य के उसकी अपेक्षा नहीं है स्वयं तो प्रकाश है क्योंकि अंधकार निवृत्ति के लिए प्रकाश है प्रकाश विशेष तम दस्ते ही आलोक अपेक्षा तद अभाव से आलोक सतैव सिद्ध प्रदीप में तो अंधकार का अभाव सत्य सिद्ध है इसलिए अंधकार नहीं होने से अंधकार निवृत्ति के लिए आलोक की अपेक्षा नहीं है प्रदीप से तेजस से तेजसांतर अनपेक्षते भी तेजस तेज का कार्य है प्रदीप प्रकाश अन्य तेजस अग्नि रूप अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है किंतु विजातीय प्रकाशस्य ज्ञानस्य अपेक्षा सव्यवहारे दृष्टा प्रदीप का व्यवहार करने के लिए शब्द प्रयोग करने के लिए प्रदीप का ज्ञान हो तो व्यवहार किया जाएगा ज्ञान शब्द प्रयोग ग्रहण करना लेना ये सब प्रदीप का व्यवहार स्वव्यवहार प्रदीप व्यवहार प्रदीप का व्यवहार करने के लिए व्यवहार के लिए शब्द प्रयोग करना लेना रखना इसके लिए प्रदीप के ज्ञान की अपेक्षा है अन्य प्रदीप की अपेक्षा सजातीय प्रकाशी की अपेक्षा नहीं है किंतु ज्ञान रूप प्रकाशी की अपेक्षा है तथा ब्रह्मणोपि विजातीय ज्ञान अपेक्षा भविष्यति प्रदीप जी से सजातीय सजातीय प्रकाश की अपेक्षा नहीं करने पर भी तेजस से विलक्षण ज्ञान की अपेक्षा करता है इसी प्रकार ब्रह्म सजातीय प्रकाश की अपेक्षा नहीं ज्ञान की अपेक्षा नहीं करे विजातीय ज्ञान की अपेक्षा करेगा इति न वाच्यम इत्याह न च एवं आत्मन भाष्य माया नहीं प्रदीपस्य स्वरूपाभिव्यक्तो प्रदीप प्रकाश अर्थवान प्रतिब स्वरूप के अभिव्यक्ति के लिए प्रतिब प्रकाश कुछ अलग जरूरत नहीं है स्वयं प्रकाश स्वरूप है न चैवम आत्मनो अन्यत्र विज्ञानमस्ति येन स्वरूप विज्ञान अपेक्षते अपेक्षते प्रदीप से विजातीय ज्ञान प्रकाश ज्ञान रूप प्रकाश है तो प्रदीप ज्ञान रूप प्रकाश की अपेक्षा करता है व्यवहार अपने व्यवहार के लिए ब्रह्म भी विजातीय ज्ञान की अपेक्षा करे व्यवहार के लिए ये न आत्मनो अन्यत्र विज्ञानम आत्मा से अन्य कोई ज्ञान है ही नहीं कोई अलग ज्ञान है ही नहीं ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है ये न स्वरूप विज्ञान है अपिच्छे अपिच्छत स्वरूप विज्ञान में अपिच्छित होता ब्रह्मणो अन्यस्य सर्वस्य अज्ञानात्मकत्वात् ब्रह्म से भिन्न सब अज्ञान अज्ञान का कार्य है भान संभावना नास्ति अन्य किसका भान की संभावना ही नहीं अज्ञानात्मक है अन्यत्र तत्व न बीजा बीजाते ज्ञान अपेक्षम ब्रह्म नास्ति अन्यत्र भान संभावना एव नास्ति अन्यत्र तत्व न विजातीय ज्ञान अपेक्षम ब्रह्म विजातीय ज्ञान सापेक्ष ब्रह्म नहीं होगा ब्रह्म से अन्य सब अज्ञानात्मक किसी का भान ब्रह्म से ही सब का भान है और कोई अलग कोई ज्ञान भान प्रकाशात्मक कुछ विलक्षण संलक्षण कुछ है ही नहीं जिससे अन्य की अपेक्षा हो अन्य विजात ज्ञान अपेक्षा नहीं ब्रह्म अपेक्षते लौकिक अनुभव विरुद्धम शास्त्र विरुद्धम चोद्भाव्य परिहरति यदि ज्ञान अपेक्षा नहीं ब्रह्म के लिए तो लौकिक अनुभव विरोध होता शास्त्र विरोध होता है यह बताते हैं उसका फिर परिहार करेंगे विरोधति चेन नान्यत्वात् लौकिक विरोध होता है शास्त्र विरोध होगा यदि ज्ञान अपेक्षा नहीं है ये संग्रह वाक्य हुआ इति च न अन्यत्वात् अन्य है ब्रह्म स्वरूप है उसे भिन्न जो ज्ञान है वो अलग है गौण ज्ञान है अन्यत्वात् सूत्र से पूर्व भागम विभजति ये संग्रह सूत्र हुआ विरोध इति चे ये पूर्व विषय सिद्धांतिकता न अन्यत्वात पहले सूत्र के विरोध इति चेत पूर्व विषय विभाग उसकी व्याख्या है स्वरूप विज्ञाने विज्ञान स्वरूपत्वाद विज्ञानांतरम न अपेक्षति तद असत स्वरूप विज्ञान के लिए अन्य विज्ञानी की अपेक्षा नहीं ऐसा जो आपने कहा सिद्धांत ने क्योंकि विज्ञान स्वरूप ब्रह्म है ये तो ठीक नहीं है स्वरूप विज्ञान विज्ञानांतर न पिछते स्वरूप के ज्ञान के लिए अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता ब्रह्म और दिया विज्ञान स्वरूपत्वात् क्योंकि स्वयं विज्ञान स्वरूप है यत तो इत्येतद असत ये ठीक नहीं है इत्येतद असत दृश्यते ही विपरीत ज्ञानम आत्मनि सम्य च आत्मा में विपरीत ज्ञान दिखता है सम्य ज्ञान भी दिखता है न जाना में आत्मानम जाना में आत्मानमिति च न जाना में आत्मानम जाना में आत्मानमिति च सम्य ज्ञान जाना में आत्मानम विपरीत ज्ञान न जानामि ऐसे व्यवहार होता है श्रुतेश्च तत्त्वमसि आत्मानमेव अवेत एतम वेतम आत्मानम विदित्वा इति च यदि ज्ञान अपेक्षा नहीं तो तत्त्वमसि कह करके उपदेश क्यों करते हैं ज्ञान के लिए उपदेश व्यर्थ हो जाएगा और तो आत्मानमेव अवेत ब्रह्मवाइदम अग्रे आसीति तद आत्मानमेव अवेत हम ब्रह्मास्मि अपने को जाना तो ज्ञान सापेक्ष हुआ एतम वितम आत्मानम विदित्वा इति आत्मा को जान करके ऐसा संन्यास करते हैं तो ज्ञान त ज्ञान सापेक्ष हुआ सर्वत्र श्रुतिषु आत्मविज्ञाने विज्ञानांतर अपेक्षत्वं दृश्यते तस्मात् प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध इति चेतना सर्वत्र श्रुति में आत्मज्ञान के लिए विज्ञान अंतरी की अपेक्षा दिखती है इसलिए प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध प्रत्यक्ष विरुद्ध श्रुति विरुद्ध प्रत्यक्ष होता है ज्ञान उसका होता है जाना में न जाना में और श्रुति में भी ज्ञान का उपदेश किया गया ज्ञान जान करके विरुद्ध इति चेत न ठीक है नहीं विज्ञान अनपेक्षत्वम ब्राह्मण अभानी ब्राह्मण विज्ञान अनपेक्षत्वम अभानी सिद्धांत है ना तोया कहा कर्मणीय लुंग अभाणी आपने कहा विज्ञान अनपेक्षत्वम ब्रह्म विज्ञान निरपेक्ष विज्ञान सापेक्ष नहीं था कहा सापेक्षत्वम जीव सदवाच्यस्य उपाधि विशिष्टस्य अनुभूयते अत भिन्न विषयत्वा न विरोधति आह अच्छा सिद्धांति का है पूर्व पक्षी नहीं विज्ञान अनपेक्षत्व ब्रह्मण भाने अस्मा भी हमने कहा ब्रह्म विज्ञान निरपेक्ष है और जो तुमने पूर्व पीछे ने कहा सापेक्ष तो दिखता है अनुभूयते किसमें जीव से उपाधि विशिष्टस्य सापेक्षत्वम अनुभूयते जो जीव शब्द का वाच्य है वाच्य होता है उपाधि विशिष्ट सो उपाधि को होता है जीव शब्द का लक्ष्यार्थ तो शुद्ध चैतन्य जो ज्ञान अनपेक्ष है जो वाच्य है उपाधि विशिष्ट उसमें सापेक्षत्वम अनुभूयते जानामि आत्मा न जानामि ये सोपाधिक आत्मा में अतो भिन्न तो न विरोध भिन्न विषय कैसे हुआ विज्ञान अनपेक्षतम जीव सद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म में शुद्ध चैतन्य में असापेक्ष तो अनुभूयते जीव वाच्य सोपाधिक में तो भिन्न विषय को हुआ कोई विरोध नहीं पर्वत में वन्य और हृदय में वन्य भाव भिन्न स्थान में विरोध कोई नहीं जीव में जीव वाच्य में सोपाधिक आत्मा में विज्ञान सापेक्षत्वम निरुपाधिक शुद्ध चैतन्य में विज्ञानानपेक्षतम कोई विरोध नहीं त्या न कस्मात अन्यो ही स आत्मा बुद्ध्यादि कार्यकरण संगात अभिमान संतान अविच्छेद लक्षण अविवेकात्मको बुद्धि अवभास प्रधान चक्षुराधिकरण नित्य चित अंतः सारो यत्र अनित्यम विज्ञानम अवभासते जहां अनित्य विज्ञान दिखता है वह अलग है अन्य ही सा आत्मा शुद्ध दृग आत्मा लक्ष्य ब्रह्म से भिन्न है अन्य ही स आत्मा सो उपाधि का आत्मा है बुद्धि आदि कार्यकरण संगात अभिमान संतान अविच्छेद लक्षणो बुद्धि आदि कार्यकरण संघात कार्य शरीर कर्ण इंद्रिय बुद्धि मन प्राण सब लेकर के देहादि संपन्न को संघात संघात में अभिमान होता अहम ऐसा अभिमान से अभिमान का प्रवाह चल रहा है अनादिकाल से अभिमान का संतान प्रवाह अज्ञान के कारण देहादि मम बुद्धि देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब मिला करके अहम हम ये संतान प्रवाह का अविच्छेद लक्षणम यस्य अविच्छेद स्वरूप ये जिस जहाँ संतान प्रवाह चलता है ऐसा है अविवेकात्मक अविवेक है आत्मा स्वरूप जिसका अविवेकात्मक जीव जीव है अविवेकात्मक जीव कहा जाता है बुद्धि अवभास प्रधान बुद्धि में अवभास चिदाभास प्रधान बुद्धि में अवभास होता है बुद्धि की वृत्ति होती है चक्षुरादि करणो चक्षुरादिनि करणानि यस्य जिसमें चक्षुरादि इंद्रिय करण है वो जीव है वाच्यार्थ है नित्य चित स्वरूप आत्मा अंतसार नित्यम चित स्वरूपम है आत्मा अंतसार यस्य अंदर सार निश्चित से स्वरूप अधिर चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहस्य पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते अधिष्ठान चैतन्य तो रहेगा और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर में अंतकरण में चिदाभास ये सब को मिला करके जीव कहा जाता है तो जो वाच्यार्थ है उसमें भी अधिष्ठान चैतन्य तो रहेगा घटा में जल रखने पर जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है प्रतिबिंब आकाश से दिखते समय भी जल भरने पर भी आकाश घट के अंदर रहता है वो पता नहीं चलता है किंतु आकाश रहता है जल भरने पर वायु तो बाहर निकल जाएगा आकाश नहीं निकलता आकाश रहता है वो आकाश वास्तव है किंतु जल में प्रतिबिंबित आकाश को अविवेकी बच्चा कहता है घटा में आकाश है और हिल रहा है इसी प्रकार अधिष्ठान चैतन्य तो है किंतु नित्य चित स्वरूप आत्मा जो अंतसार जिसका उसको छोड़कर बाकी सब अज्ञान से अधिष्ठान चैतन्य है वास्तव बाकी सब अध्यस्त है इसलिए अंतसार नित्य चित स्वरूप हुआ यत्र अनित्यम विज्ञानम अवभासते जहाँ अनित्य विज्ञान भान होता है जानामि आत्मनम न जानामि अनित्य विज्ञान होता है और ब्रह्म का ज्ञान हुआ तत्वों से उपदेश वाच्यार्थ में न कि लक्ष्यार्थ में टीका में बुद्ध्यादु कार्यकरण संघाते य आत्माभिमान संतान बुद्ध्यादि में कार्यकरण संघात में बुद्धि प्राण आदि में अंत कार्यकरण सर्वेंद्र समुदाय में जो आत्माभिमान का संतान अहम इस अभिमान का प्रवाह चल रहा है अनादि भव परंपरा प्रापित अनादिकाल से होने वाली जो परंपरा से प्राप्त है अहम अहम बुद्धि तस्य अविच्छेद रूपम उसका विच्छेद नहीं होना लगातार चलता है अविच्छेदेन रूप्यते गम्यते इति अविच्छेद रूपम अविच्छेद कारणम अविच्छेद से ज्ञान होता है प्रवाह का जो विच्छेद नहीं होता उससे निरूपित होता है उसका कारण कारण होता अनिर्वाच्यम अज्ञान लक्षणम अज्ञानम लक्षणम चिन्हम यस्य अज्ञानम लक्षणम अज्ञानम अनुसार अज्ञानम लक्षणम का अर्थ चिन्हम यस्य अज्ञान जिसका चिन्ह है यस्य चित प्रतिबिंबस्य सततोत अनिर्वाच्य अज्ञान है चिन्ह जिसका चित प्रतिबिंब चिदाभास और चिदाभास है उदिखिता है तो सततोत वो कहा अविवेकात्मक वही जीव शब्द का वाच्यार्थ चिदाभास प्रधान जिसमें चक्षुराधिकरण बुद्धि आवास प्रधान चितंत्रम ही अनिर्वाच्यम अज्ञानम चैतन्यम अवच्छिद्य स्वावच्छिन्न यथा स्वरूपाभासम प्रतिपद्य मौढ्यादि अध्यासेतुर भवति अनिर्वाच्यम अज्ञानम अज्ञान है अनिर्वाच्यम अनिर्वाच्य और अवाच्य में भेद है अज्ञान अवाच्य नहीं अज्ञान वाच्य है अज्ञान तो अज्ञान अव्यक्त अविद्या माया कितने शब्द से कहा जाता है शब्द का वाच्य है अनिर्वाच्य है सत रूपेण असद रूपेण सद असत उभय रूपेण निर्वत्तम न त अनिर्वाच्यम अज्ञान सत नहीं आत्मा ब्रह्म जैसे सत्य सच्चे न बाध्यता यदि सत होता अज्ञान तो बाध नहीं होता किंतु ज्ञान से बाधित हो जाता है इसे सत नहीं त्रिकाल बाध्य होगा तो सत होगा सत नहीं तो तार्किक लोग हैं तो असत होगा इसे बंध्या पुत्र सशिवजान तो कहता असत्य भी नहीं अज्ञान असत्य न प्रतीयत असत्य की प्रतीति प्रत्यक्ष नहीं होता है बंध्या पुत्र सशिवजान का प्रत्यक्ष कभी नहीं होता है अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है मूढ़ोम मामम न जानामि न किंचित वेदितम परामर्श सिद्ध अज्ञान का प्रत्यक्ष अज्ञान का कार्य भी प्रत्यक्ष दिखता है इसलिए असत्य भी नहीं है असत असत उभय नहीं हो सकता है इसे उसको कहते हैं अनिर्वाच्यम अथवा अनिर्वचनीयम जिसका रूप से असद रूप से उभय रूप से निर्वचन नहीं हो सकता है उसको कहते हैं अनिर्वाच्यम अथवा अनिर्वचनीयम ब्रह्म अनिर्वचनीय नहीं है ब्रह्म अवाच्य है किसी भी शब्द का वाच्य नहीं होता है ब्रह्म किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती ब्रह्म को कहने के लिए शब्द प्रवृत्ति के निमित्त जाति गुण क्रिया संबंध कुछ भी ब्रह्म में नहीं नहीं होने से भी किसी नहीं होने से किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती ब्रह्म को कहने के लिए शब्द की प्रवृत्ति होती अर्थ को प्रकाश करने के लिए घट जलम कहेंगे तो शब्द का प्रत्यक्ष होता है श्रवण इंद्र से और जिसको शक्ति ज्ञान है अर्थ का ज्ञान हो जाता है घट माने जल माने कण से बोध होता है अर्थ का तो शब्द का उच्चारण किया जाता है शब्द की प्रवृत्ति होती अर्थ प्रकाशन करने के लिए अर्थ को बोधन कराने के लिए अर्थ का ज्ञापन कराने के लिए श्रोता को अर्थ का ज्ञान हो जाए ऐसे शब्द उच्चारण किया जाता है इसलिए उच्चारण करते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जो सुनेगा उसको जैसे पता चले हम क्या कहते हैं और जो कुछ हम कहते हमको पता है किंतु सुनने वाले को पता नहीं चलेगा सात पांच अक्षर में से एक दो अक्षर सुनाई पड़ेगा तो कैसे पता चलेगा अर्थ बोलने वाले को तो पता है क्या बोला और नहीं बोलने पर भी उसका पता है जो बोलना चाहता है नहीं बोलेगा तो भी उसको मालूम है क्या बोलना चाहता है और नहीं बोलेगा तो सुनने वाले को पता चल जाएगा और कोई शब्द में सात अक्षर है उसे दो अक्षर सुनाई पड़ा तो बाकी से पता चल जाएगा पता नहीं चलेगा इसलिए बोलने वाले को थोड़ा इसे ध्यान रखे सुनने वाले को कष्ट नहीं दे ऐसे बोले जिसको सुनाई पड़े समझ ले तीन बार पांच बार बोले तो भी पता नहीं चलेगा फिर अंदाज से बोलेगा क्या कहता होगा करके <laughs> शब्द का उच्चारण किया जाता है अन्य को बोधन कराने के लिए शब्द का स्पष्ट उच्चारण हो शब्द का श्रवण इंद्र से प्रत्यक्ष होगा प्रत्यक्ष होने के बाद अर्थ ज्ञान होगा और शब्द ही सुनाई नहीं पड़े तो अर्थ ज्ञान क्या होगा कहीं कहीं तो भाषा अलग है शब्द सुनाई पड़ने पर भी क्या शब्द उन्होंने कहा उस शब्द का भी अनुकरण नहीं कर सकते हैं कोई के भाषा में ऐसे शब्द कहेंगे सुन करके क्या शब्द कहा अर्थ छोड़ दो शब्द क्या उच्चारण क्या ये भी कहना बड़ा कठिन है जो इधर के लोग दक्षिण भाषा नहीं जानते उधर जाकर देखो वो दक्षिण के इधर आने पर उनको भी ऐसा लगता होगा कुछ आदिवासी लोग हैं उनकी भाषा ऐसा है वो क्या शब्द कहेंगे शब्द भी पता नहीं चलता है तो शब्द पता चलना भी कठिन है तो शब्द पता चले तो अर्थ ज्ञान होगा शक्ति ज्ञान हो तो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जाति गुण क्रिया संबंध आदि है ब्रह्म में कोई निमित्त नहीं होने से किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती अर्थ ब्रह्म को बताने के लिए यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा शब्द वाणी मन का अविषय इसलिए ब्रह्म हो गया अवाच्य शब्द का वाच्य नहीं है ब्रह्म शब्द शब्द का ब्रह्म का वाचक है या नहीं ब्रह्म शब्द भी वाचक नहीं लक्षक है ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ क्या होगा कोई है ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ ईश्वर है माया विशिष्ट चेतन ईश्वर ही वाच्यार्थ है लक्षार्थ ईश्वर नहीं है शुद्ध तो लक्षण से शुद्ध का ज्ञान किया जाता है इसलिए ब्रह्म अवाच्य है अनिर्वचनीय नहीं अनिर्वचनीय मिथ्या ये पर्यायवाचक हो जाता है राज्य में सर्प दिखता है वो सत्य है असत है असत्य है सत नहीं सचेत न बाध्यत रज सर्प का बाद हो जाता है रज देखने के बाद और असत्य भी नहीं कर सकते असत्य न प्रत्येत रज्जु सर्प दिखता है भ्रांति काल में इसलिए असत नहीं असत असत उभय भी नहीं हो सकता है कोई से पदार्थ नहीं जो सत्य भी असत हो इसलिए रज्जु सर्प भी अनिर्वचनीय है रज्जु सर्प अनिर्वचनीय जिस प्रकार माया अज्ञान अज्ञान का कार्य स्वनिर्वचनीय ब्रह्म सद्रूपे सदैव समिदम अग्रासीत अनिर्वचनीय अवाच्य अवाच्य तो ब्रह्म का वाचक नहीं सत शब्द सत शब्द ब्रह्म शब्द जितने शब्द है सब लक्षणा से शुद्ध ब्रह्म को कहेंगे तो अवाच्य नहीं अवाच्य है ब्रह्म अनिर्वचनीय नहीं है किंतु माया अज्ञान अनिर्वाच्यम अज्ञानम अनादि काल से है अज्ञान का लक्षण करते हैं अनादि भावत्व सति ज्ञान निवर्त्यत्वम ज्ञान से नष्ट होता है अज्ञान ज्ञान निवर्त्य अज्ञान ज्ञान निवृत्तत्वम अज्ञान में ज्ञान निवृत्तत्वम अज्ञान में कहेंगे तो तार्किक लोग बताते हैं अज्ञान नाम को कोई पदार्थ है ही नहीं घट बनने के पहले घट का अभाव था इसको कहते घट का प्राग अभाव इसी प्रकार ज्ञान होने के पहले ज्ञान का अभाव था उसका नाम ज्ञान का प्राग अभाव प्राग अभाव का आप लोग अज्ञान अज्ञान कहते हैं ऐसे कोई अज्ञान क्या है और ज्ञान का प्राग अभाव और ज्ञान निवृत्त तो इतने कहेंगे तो ज्ञान निवृत्त तो ज्ञान के पहले सुख दुख इच्छा आदि जो विशेष गुण वो ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं तार्किक लोग बताते हैं आत्मा में विशेष गुण उत्तर विशेष गुण से नष्ट हो जाता है सुख हुआ सुख का अनुभव ज्ञान हुआ तो सुख नष्ट हो जाएगा इच्छा है इच्छा का ज्ञान हो इच्छा नष्ट हो जाएगी तृतीय क्षण में नाश हो जाता है विशेष गुण का बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ये सब आत्मा में उत्पन्न होते द्वितीय क्षण स्थिति तृतीय क्षण विनाश सो उत्तरवर्ती गुणों के द्वारा नष्ट हो जाते हैं तो ज्ञान निवर्त्यत्वम पूर्व ज्ञान में पहले घट ज्ञान हुआ फिर पट को देखा पट ज्ञान से घट ज्ञान नष्ट हो जाएगा इच्छा से भी ज्ञान नष्ट हो जाएगा ज्ञान से इच्छा नष्ट हो जाएगी तो ज्ञान निवर्त्यत्वम पूर्व विशेष गुण में बुद्धि सुख दुख इच्छा आदि में सब में आ जाएगी ज्ञान निवर्त्यत्वम उसको वारण करने के लिए कहा गया अनादित्य सति ज्ञान निवर्ततम बुद्धि सुख दुख इत्यादि अनादि नहीं है शादी उत्पन्न होते हैं तो बुद्धि सुख दुख आदि में ज्ञान निवर्तत्व आएगा ज्ञान निवर्तत्व आने पर भी अनादित्व नहीं रहेगा अनादित्व नहीं रहने से बुद्धि सुख दुख आदि में ज्ञान निवर्तत्व आएगा हैं अनादित्य सति ज्ञान निवर्तत्वम नहीं आएगा किंतु तार्किक लोग कहते बुद्धि सुख दुख आदि में नहीं आए ज्ञान का प्राग भाव में अतिव्याप्ति क्योंकि ज्ञान का प्राग भाव ज्ञान से नष्ट हो जाता है ऐसे घट का प्राग भाव है घट बनते ही घट प्राग भाव नष्ट हुआ तो घट निवर्त्यत्वम घट प्राग भाव में है इसी प्रकार ज्ञान निवर्त्यत्वम ज्ञान प्राग भाव में रहेगा और प्राग भाव अनादि है प्राग भाव को अनादि मानते उसकी उत्पत्ति नहीं होती है ध्वंस की तो उत्पत्ति होती है किंतु प्रागभाग की उत्पत्ति नहीं होती है हां प्रागभाग का नाश हो जाएगा घट बनते ही घट प्रागभाग नष्ट हो गया ज्ञान होते ही ज्ञान के प्रागभाव का क्या हो जाएगा नाश हो जाएगा तो ज्ञान निवर्त्यत्वम ज्ञान के प्रागभाव में आया ज्ञान के प्रागभाव में अनादित्व आएगा अनादित्व सति ज्ञान निवर्त्यत्वम यह आ जाएगा ज्ञान के प्रागभाव में तो ज्ञान के प्राग हमें अज्ञान लक्षण चला गया अतिव्याति होगी इसको वारण करने के लिए कहा गया भावत्व सति अनादि भावत्व सति ज्ञान निवर्त्यत्वम ज्ञान का जो प्राग भाव वो अभाव रूप है भाव रूप है उसमें भावत्व रहेगा तो अनादि भावत्व सति ज्ञान निवर्त्यत्वम ज्ञान के प्राग भाव में नहीं आएगा अज्ञान में आएगा अज्ञान के भाव पदार्थ तार्किक लोग तो अज्ञान को भाव पदार्थ मानोगे जो अनादि भाव है वो सब नित्य होता है जिसकी उत्पत्ति नहीं होती भाव पदार्थ वो नित्य हो जाएगा जैसे आत्मा अनादि है भाव पदार्थ है इसलिए वेदांति कहते भाव शब्द जो हमने कहा वो अभाव विलक्षण के लिए भाव शब्द कह दिया वो वस्तु तो भाव रूप नहीं है भाव स्वरूप नहीं अभाव स्वरूप भी नहीं है तो अनादि भाव तो सत्य लक्षण क्यों कहा ज्ञान के प्राग हम अतिव्याति वर्णन करने के लिए अभाव विलक्षण कहने के लिए भावत्व सति कह दिया तो अज्ञान भाव रूपे अभाव रूपे अभाव रूप भाव रूप भाव का अर्थ अभाव से विलक्षण अनादि भावत्व सति ज्ञान निवर्तत्वम अज्ञान का लक्षण वो अनादि है और अनिर्वाच्यम अज्ञानम यही होता है कारण वो कहाँ रहता है ज्ञान चेतन में आश्रित होता है चितंत्रम चेतन में आश्रित सांख्य मत में कि माया मानते हैं त्रिगुणात्मिका माया किंतु तंत्र नहीं मानते पुरुष तंत्र नहीं स्वतंत्र है प्रकृति माया मानते त्रिगुणात्मिका स्वतंत्र है और उसको सत्य मानते हैं उसका परिणाम भी मानते नित्य भी मानते परिणामी नित्य कहते माया प्रकृति को प्रधान भी कहते उसको किंतु वेदांत मत के अनुसार स्वतंत्र नहीं है और ब्रह्म में स्थित है और पारमार्थिक नहीं वह अनिर्वचनीय मिथ्या है चितंत्रम ही अनिर्वाच्यम ज्ञानम चैतन्य में अवच्छिद्य चेतन में आश्रित है चैतन्य में जो रहता है चैतन्य को अवच्छेद करके घेर करके जो चैतन्य को अवच्छेद क्या परिचिन्न कर देता है जैसे बादल सामने आ गया सूर्य नहीं दिखता है सूर्य बड़ा है या बादल बड़ा है सूर्य बहुत बड़ा है हाथ ऐसे रखो तो सूर्य नहीं दिखेगा हाथ बड़ा है सूर्य से ये जो रहा उसको ढक देता है इसी प्रकार विचार किया गया अज्ञान क्या सारे चैतन्य में सर्वत्र है एक देश में तो कहा एक देश में सर्वत्र नहीं तो ब्रह्म तो निरवय तो एक देश में कैसे कहेंगे निरवय का एक देश होगा इसलिए कहा एक देश कैसे कहेंगे तो वहाँ पंचदश में कहा गया वस्तुतः तो एक देश शब्द भी कहना ठीक नहीं है किंतु निरवय ब्रह्म में अंश का आरोप कर, करता है शिष्य अंश आरोप करके पूछता है एक देश में या सर्वत्र है तो तद्भाषया उत्तरम ब्रूते श्रुति शिष्य हितैषिणी शिष्य की भाषा से ही श्रुति कहती एक देश में है करके पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि सारे ब्रह्मांड एक पाद में है शिष्य पूछता है ब्रह्म में पूरा माया है एक देश में तो श्रुति उसकी भाषा से उत्तर देती है उसके हित के लिए तद्भाषये उत्तरम ब्रूते श्रुति शिष्य हितैषिणी शिष्य को उसी की भाषा से कहते एक देश में वस्तु तो एक देश शब्द भी प्रयोग नहीं होगा निरवय में तो अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान चैतन्य को अवच्छेद करके परिचिन्न बना करके स्वावच्छिन्न यथा स्वरूपाभासम प्रतिबद्ध अवच्छ अवच्छिन्न चैतन्य में स्वरूपाभास को बंधन प्रतिबंध कर देता है अज्ञान स्वरूप यथा स्वरूप का भान नहीं होता है इसमें फिर क्या करता है मौढ़्यादि अध्यास हेतुर्भवति अब स्वरूपाभास का प्रतिबंध हो गया स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से विक्षेप होता है मौढ़्यादि अध्यास का हेतु हो जाता है अज्ञानम अज्ञान अपने स्वरूप को ढाक दिया स्वरूप ढाक करके जैसे रज्जु का ज्ञान रज्जु को ढाक करके उसमें सर्प अध्यास का हेतु हो जाता है इसी प्रकार चैतन्य को ढाक करके अवचेन परिचन करके उसमें स्वावचन चैतन्य में स्वरूप भान को प्रतिबंध कर दिया मौढ़्यादि अध्यास हेतु होता मूढ़ो हम मनुष्य हम देव स्थूल यह अध्यास के हेतु हो जाता है तस्मात् अविवेकात्मक जीवित उच्यते इस जीव अविवेकात्मक का अविवेक स्वरूप अज्ञान स्वरूप अज्ञान से ही अज्ञान उसका अध्यास के हेतु है इसलिए अज्ञान स्वरूप का अज्ञान प्रवृत्त अध्यास वाला होने से अज्ञान का जीव इति जीव जो कहा गया चिदावास कोई जीव शब्द का वाच्य अर्थ है लक्ष्यार्थ अधिष्ठान चैतन्य बिंब रूपम किन वाच्यार्थ चित चिदाभास वो चिदाभास के संबंध से हम जीव व्यवहार करते हैं शुद्ध चैतन्य सर्वत्र रहने पर भी दीवाल पत्थर को जीव नहीं कहते हैं क्योंकि उसमें चिदाभास नहीं है अचिदाभास जिसमें अंतकण है उसको जीव कहते हैं बुद्धेर अंतकरण से यथा यथा नील पिता दे आकार भाषा जायन्ते तथा तथा चित्त प्रतिबिंब प्रमात्रित्व आदि रूपेण भातिति तत्प्रधानो अध्यस्तस्य विशिष्टस्य तत्सत्यैव सत्वाद विशिष्टांतर निविष्टो य आत्मा नित्य चित स्वरूप सैव सारो यस्मिन् सततोक्त बुद्धेर अंतकणस्य से बुद्धि अंतकणे अंतकण को बुद्धि शब्द से क्या मन शब्द से कह देते हैं बुद्धि तो निश्चयात्मिका वृत्ति है अंतकण है वृत्ति मत अंतकण का परिणाम है वृत्ति बुद्धि भी एक वृत्ति है मन भी एक वृत्ति है संकल्पात्मक वृत्ति को मन कहते आत्मक परिणाम को बुद्धि कहते हैं तो भी यहाँ बुद्धि शब्द से यहाँ अंतकरण लेना यद्यपि बुद्धि अंतकरण का परिणाम है तो कहीं कहीं कारण अंतकरण में बुद्धि कार्य शब्द बुद्धि शब्द मन शब्द भी प्रयोग किया जाता है तो बुद्धि हो गया अंतकण उसका यथा यथा नीलपिता आदि आकार अभाषा जायन्ते जब हम देखते हैं घटपट आदि अंतकरण का परिणाम होता है चक्षु के साथ घटपट आदि का संबंध हुआ नील घट पिता आदि बन रहे तो अंतकरण का परिणाम होता है घट को देखते तो घटाकार परिणाम हुआ पट को देखें तो पटाकार परिणाम हुआ ये देह से अंतकरण चक्षुरादि छिद्र के द्वारा जा करके घट देश में व्याप्त हो जाते हैं घटाकार पटाकार भान होता है तो अंतकरण का परिणाम होता है नील पितादि आकार अवासा जायन्ते जैसे वृत्ति होगी अंतकरण शुद्ध प्रकाश शुद्ध होने से सत्व गुण होने से उसमें चेतन का प्रतिबिंब होता है अंतकरण का जो परिणाम वृत्ति है उसमें भी प्रतिबिंब होगा तथा तथा चित्त प्रतिबिंब चित्त प्रतिबिंब उसमें होगा वृत्ति में अंतकरण में ऐसे होने से प्रमातृत्वादि रूपेण भाति चित्त प्रतिबिंब चिदाभास तत्तद रूपेण नीलपितादि आकारण घटपटादि का ज्ञान होता है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति होती है ज्ञान ज्ञान का आश्रय है वृत्ति का आश्रय अंतकण वही अंतकण विशिष्ट चेतन को जीव कहते हैं चित प्रतिबिंब चिदाभास उसमें है तथा तथा ज्ञान जिस प्रकार घटपटाकार ऐसे चेताभास तत्तदाकार घड़ा में जल है जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है और जल में पर जिस प्रकार कंपन हुआ आकाश में प्रतिबिंब में इसे कंपन दिखता है जल है उपाधि उसमें दिखता है चंद्र का प्रतिबिंब आकाश का प्रतिबिंब जल में कंपन होने से प्रतिबिंब में कंपन दिखता है इसी प्रकार बुद्धि में कंपन होने पर वृत्ति होने पर उचित आभास में दिखता है ध्यायतीव लीलायतीव श्रुति कहती बुद्ध्याम ध्यायां ध्यायंत्याम चित ध्यायतीव बुद्धि में ध्यान होने पर स्थिरता होने पर चेतन स्थिर हो गया अब बुद्धि में चलन होने पर चेतन चलन होने लगा ऐसा लगता है इसी प्रकार चित्त प्रतिबिंब स्वयं वृत्ति है वृत्ति में ज्ञान है चित्त प्रतिबिंब चिदावा से तद विषय होता अंतकण और अंतकण को प्रमाता कहते क्योंकि चिदाभास विशिष्ट अंतकण चिदाभास विशिष्ट अंतकण अथवा अंतकणावचन चैतन्य इसको प्रमाता कहते हैं तो प्रमातृत्व आदि रूपेण भाति तथा तथा चित्त प्रतिम्ब प्रमाता रूप से प्रमातृत्व ज्ञात रूप से भान होता है वही कर्ता भोक्ता रूप से व्यवहार किया जाता है चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि भान होता है इति तत्प्रधानो वही तत्प्रधान हुआ भाष्य में कहा बुद्धिवास प्रधान हुआ बुद्धिवास चिदावास हो गया प्रधान से तत्प्रधान हुआ अध्यस्तस्य और अध्यस्तस्य विशिष्टस्य तत्सत्याव सत्वाद अध्यस्त होता है विशिष्ट शुद्ध चैतन्य ये अधिष्ठान और अंतकरण विशिष्ट हो गया अथवा चिदाभास विशिष्ट हो गया अंतकण हो गया विशिष्ट हो गया अविद्या विशिष्ट अंतकण विशिष्ट अंतकण सहित हो गया जीव विशिष्ट हो गया जीव वो मिथ्या है जो अंतकण विशिष्ट चिदाभास विशिष्ट अंतकण कहो अंतकण विशिष्ट चेतन कहो वो विशिष्ट हो गया तत्सतैव सत्वात् अधिष्ठानिक की सत्ता से अध्यस्त की सत्ता विशिष्ट अध्यस्त हो गया शुद्ध अधिष्ठान है जिस प्रकार रज्जु अधिष्ठान सर्प अध्यस्त है रज्जु की सत्ता है से सर्प की सत्ता रज्जु को हटा देंगे तो सर्प नहीं दिखेगा रज्जु का भान होने पर सर्प दिखेगा रज्जु को ढाक दिया कपड़ा दिखे तो रज्जु नहीं दिखे सर्प नहीं दिखेगा विशिष्ट से तसत्येव सत्वात् अधिष्ठान की सत्ता से ही विशिष्ट की सत्ता है तो विशिष्ट अध्यस्त है किंतु विशिष्ट के अंतर्गत शुद्ध है विशिष्टांतर निविष्टो यह आत्मा अंतकण विशिष्ट चेतन अंतकण विशिष्ट कण से अंतकण का विशेषण चेतन हो गया विशेष्य तो विशिष्ट का अंतर निविष्ट हो गया आत्मा शुद्ध चैतन्य नित्य चित स्वरूप चैतन्यम यद अधिष्ठान अधिष्ठान चैतन्य नित्य चित स्वरूप सैव सार यस्मिन वही सार है जीव का वाच्यार्थ है चिदाभास सूक्ष्म शरीर जितने सवे सव में सार तो अधिष्ठान चैतन्य सैव सारो यस्मिन अधिष्ठान चैतन्य सारे जो सार का अर्थ जिसका बाध नहीं होगा सत्य है वही अधिष्ठान स्थिर है कूटस्थ है अबाध्य रूप अधिष्ठान चैतन्य वही अंतसार हुआ अंतसार भाष्य में आया बुद्धिवास नहीं बौद्ध प्रति नित्य चित स्वरूप आत्मा अंतसार नित्य चित स्वरूप आत्मा अंतसार नित्य जो चित स्वरूप वही आत्मा है अंतसार यस्य जीव का जीव में सार अधिष्ठान चैतन्य वही जीव है चिदाभास प्रधान जीव जो कि अविवेक आत्मक अज्ञानात्मक अज्ञान में प्रतिबिंबन से चिदाभास होने से वो जीव शब्द से कहा जाता है बुद्धि परिणाम रूपाणाम नीलपितादि प्रत्ययानाम उत्पन्न विनाशवत्वात् तदुपरत रूपेण अनित्यम चैतन्यम यत्र भासते सो अन्यो जीव बुद्धि परिणाम रूपाणाम बुद्धि का परिणाम है ज्ञान वृत्ति ज्ञान घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति घटक विषय का ज्ञान पट विषय ज्ञान नीलपितादि आकार वृत्ति है बुद्धि का परिणाम बुद्धि का तो अंतकण अंतकण का परिणाम होता है जैसे जल भांड में बर्तन में बड़े जल टांके में पानी भरा हुआ है छेद हो गया तो छेद से पानी बाहर निकलता है उसमें जहाँ गिरेगा ग्लास कटोरी लोटा रखो भर जाएगा तो जल लोटाकार हो जाएगा घटाकार हो जाएगा जिस बर्तन में रखे तदाकार हो जाता है इसी प्रकार जल स्थानीय अंतकरण बाहर जाता है शरीर स्थान है घट स्थानीय घड़ा के स्थानीय कौन हुआ शरीर और घड़े में जैसे जल है यहाँ शरीर में जल स्थानीय अंतकण घड़ा में छेद है यहाँ शरीर पर घड़ा में क्या छेद है इंद्र चक्षु आदि छिद्र छिद्र के द्वारा अंतकण बाहर निकल जाता है इतने जल्दी निकल जाता है भगा भागता है अंतकण को मला कर लक्ष्य में लगाना चाहता है अंतकण भागता है छेद नहीं मिले तो भी भाग जाता है भागने का क्या अर्थ है वो तो तत्त विषय चिंतन करता है तो कहते भाग गया नहीं जाने पर भी और छेद मिला तो भाग ही जाता है निकल जाता है जैसे पानी चेहरे से भाग जाता बह जाता है पीने के लिए पानी रखा नीचे छेदे घड़ा में एक घंटा के बाद देखो एक बूंदी पानी नहीं रहेगा चला गया तो इसी प्रकार ये अंतकरण निकलता रहता है छेद के द्वारा जा करके घटपट आदि देश में संबद्ध होकर के तदाकार परिणाम होता है वो वृत्ति कहते अंतकरण का परिणाम वृत्ति वृत्ति या अंतकरण का परिणाम स्वच्छ होने से उसमें चिदाभास उत्पन्न होता है उसे चैतन्य का प्रतिम्ब उसमें दिखता है और ज्ञान जैसे दिखता है इसे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है दर्पण कोई प्रकाश रूप नहीं किंतु उसमें सूर्य का किरण रहेगा तो प्रकाश दिखता है कभी जल में सूर्य किरण पड़ता है तो जल को देखें तो नहीं देख पाएंगे चकमक हो जाता है आंख को आंख में आकर प्रकाश आ जाता है इसी प्रकार स्वयं जड़ है अंतकण उसका परिणाम वृत्ति भी जड़ है किंतु चेतन का प्रतिबिंब से वो ज्ञान जैसे लगता है तो वृत्ति ज्ञान गौण ज्ञान कहते हैं वही ज्ञान शब्द से और उसका आश्रय होगा वृत्ति का आश्रय अंतकरण तो ज्ञान का आश्रय अंतकरण विशेष चेतन एक प्रमाता ज्ञाता होता है बुद्धि परिणाम रूप नीलपिता आदि प्रत्यय होता है ज्ञान वो उत्पन्न विनाशवत्वाद वृत्ति की उत्पत्ति होती नाश होता है जैसे घट की उत्पत्ति होने पर घटाकाश उत्पन्न घट नष्ट होने पर घटाकाश नष्ट आकाश की उत्पत्ति नहीं नाश नहीं तभी तो घट नष्ट हो गया तो उसे आकाश को घटाकाश कहेंगे कहेंगे घट नष्ट होने का तो घटाकाश कहा जाएगा घट उत्पत्ति के बाद घटाकाश कहा जाएगा कहा जाएगा नष्ट होने पर घटाकाश रहेगा तो कहां जाएगा नष्ट हो गया घट की उत्पत्ति नाश आकाश का आकाश की उत्पत्ति नाश नहीं मानते न्याय शास्त्र में तो भी घट की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति घट के नाश से घटाकाश का नाश कहते हैं इसी प्रकार वृत्ति की उत्पत्ति होने पर वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ज्ञान की उत्पत्ति वृत्ति के नाश होने पर वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ज्ञान का नाश प्रत्यय वृत्ति ज्ञान प्रत्ययनाम उत्पन्न विनाशवत्वात् तद उपरक्त रूपेण तद उपरत तद संबद्ध होकर के चैतन्य भी अनित्य हो गया क्योंकि वृत्ति यदि अनित्य तो वृत्ति उपरत वृत्ति अभिवत चैतन्य अनित्य अनित्यम चैतन्यम यत्र भासते वो दिखता है अंतकण विशिष्ट में प्रमाता में जीव में यत्र भासते सो जीव स जीव अन्य है सो अन्य जीव जीव अन्य हुआ चिदाभास चिदाभास के संबंध से वृत्ति में चेतन प्रतिबिंब ज्ञान होता है वो ज्ञान होता है जीव में ज्ञान की अपेक्षा जीव शब्द का वाच्य में ज्ञान अपेक्षा है अधिष्ठान चैतन्य में ज्ञान की अपेक्षा नहीं है सर्वानेतानि जीव विशेषणानि अन्यत स्फुटि करणार्थानि इतने सब विशेषण दिया है जीव का विशेषण दिया है शुद्ध चेतन से विलक्षण बताने के लिए शुद्ध चेतन में कोई उपाधि नहीं जीव के लिए बुद्धि आदि उपाधि है ये उपाधि विशिष्ट होता है अन्य जिसमें विज्ञान की अपेक्षा है पूर्व पीछे ने कहा विज्ञान की जाना में आत्मनम न जाना में तत्वमसि उपदेश आत्मानमेव अवेत और एतमेव आत्मनम विदित्वा ये सब ज्ञान लोक में प्रसिद्ध है आत्मा को जानता हूं नहीं जानता हूं और ज्ञान का उपदेश ज्ञाश्रुति में इससे सिद्ध होता है ज्ञान सापेक्ष है तो सिद्धांति कहता है जहां ज्ञान की अपेक्षा है वो सोपाधिक है जीव शब्द का वाच्यार्थ है वो अन्य है लक्षार्थ शुद्ध चेतन ज्ञान निरपेक्षम कहते हैं न केवलम अनित्यत्वम विशिष्ट उपाधि उपारूढ़तया विज्ञान से तद धर्मतया भासते अपितु मनुष्य हम जानामेति प्रतिशरम विलक्षणमपि चैतन्य भासते विशिष्ट भेदादित्यर्थ न केवलम अनित्यत्वम विशिष्ट उपाधि रूपारूढ़तया विज्ञानस्य तद धर्मतया भासते अपितु ज्ञान में अनित्यत्व भान होता है वृत्ति अनित्य होने के कारण वृत्ति विशिष्ट चैतन्य अनित्य है अनित्यत्वम केवल विज्ञान से अनित्यत्वम केवल न विशिष्ट उपाधि रूढ़तया विशिष्ट उपाधि अंतकण वृत्ति है विशिष्ट उपाधि रूढ़तया विशिष्ट उपाधि में आरूढ़ उपाधि के तादात में होकर के वृत्ति तादात में न वृत्ति अभिव्यक्त होता है वृत्ति तादात्म्य को प्राप्त करके अनित्य कहा गया चेतन को विशिष्ट उपाधि रूढ़तया विशिष्ट उपाधि अंतकण वृत्ति तादात्म्य न विज्ञान से अनित्यत्वम तद धर्मतया भासते उसके अंतकण का धर्म जीव धर्मत्वेन अनित्य ज्ञान दिखता है केवल इतना नहीं है ज्ञान अनित्य लगता है ज्ञान की उत्पत्ति नाश जानामि न जानामि इतने केवल नहीं अपितु मनुष्य हम जानामि इति मैं मनुष्य हम जानामि इति प्रतिसरम विलक्षण अपि चैतन्य भासते प्रतिसर भिन्न भिन्न लगता है अलग-अलग अहम मनुष्य अहम जानामि अहम सोचामि अहम सुखी अहम दुखी भिन्न भिन्न भासते विशिष्ट भेदाद अंतकण भिन्न भिन्न से विशेषण भिन्न से विशिष्ट भेद हो गया अंतकण अलग-अलग है एक ही आकाश में घट मठ गुहा कमंडल करक आदि अन्य कौन से घटाकाश मठाकाश करकाकाश गुहाकाश भिन्न-भिन्न प्रयोग होता है इसी प्रकार यही ही चेतन में विशेषण रूप अंतकण अलग-अलग होने से अंतकण विशिष्ट चेतन भिन्न-भिन्न हो गया तो विलक्षण भिन्न-भिन्न जी किसके अंतकण में सुख किस में दुख जैसे अनेक घड़े में जल है चंद्र का प्रतिबिंब आकाश का प्रतिबिंब है किस में जल हिल रहा है वहां प्रतिबिंब हिलेगा किस में जल छेद में चला गया तो वहां प्रतिबिंब नहीं दिखेगा कहीं घटा नष्ट हो गया तो वहां चिदावास नहीं दिखेगा प्रतिबिंब नहीं दिखेगा एक घड़ा नष्ट होगा तो सारे घड़े रहेंगे या नष्ट हो जाएंगे इसी प्रकार एक ही शरीर में अंतगण चला गया मर गया तो सब लोग मर जाएंगे कहते ब्रह्म एक है तो एक मर गया तो सब मर जाए एक सुखी तो सब को सुख हो जाए एक ही तो आत्मा है आत्मा में सुख दुख है ही नहीं जो सुख दुख अंतकण में है जो अंतकण में सुख दुख है अंतकण चला गया तो सुख दुख नहीं है एक जल घट को हिलाएंगे सारे घड़े में प्रतिबिंब थोड़े-थोड़े हिलेंगे ना कोई नहीं जहां कहीं लाएंगे वही लाएंगे अन्यथा नहीं एक अंतकण में सुख है दूसरे अंतकण में दुख रह होता है एक अंतकण में सुख है दूसरे में दुख है पर भिन्न भिन्न है अलग-अलग रूप होकर के सब विलक्षणम अपि चैतन्य भासते विशिष्ट भेदात विशिष्टानाम भेदात विशिष्ट भिन्न भिन्न है विशेषण भेदात अंतकण सबका एक है अनेक है अनेक है शरीर एक है अनेक है घड़ा अनेक है जल सब में भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न किस्म में कंपन किस में स्थिरता भिन्न भिन्न किस में काई जम गया किस में महिला है किसे प्रतिबिंब दिखता है किस में नहीं दिखता है इसी प्रकार एक ही बिंब रूप चेतन उसका प्रतिबिंब सारे अंतकरण में है जितने सब बैठे हैं बाहर है जीव जितने सब के शरीर में अंतकरण है अंतकरण में भास है और आभास से भास हजार घड़े में प्रतिबिंब कितने दिखेंगे हजार प्रतिबिंब दिखेंगे बिंब एक रहेगा हजार हो जाएगा एक बिंब का हजार प्रतिम्ब हो सकता है हजार से अधिक हो सकता है करोड़ों घट रखें तो सौ में प्रतिम्ब होगा एक बिंब रूप चेतन का सारे जीव में अंतकण में चिदाभास अनेक है तो उसमें सब भिन्न जैसे भी दिखता है विशिष्ट भेदात परमार्थतः कीदृशम चैतन्यम जैसे विशिष्ट धर्मता आभासते तत्र तो चैतन्य कैसा है परमार्थतः जिसमें विशिष्ट धर्म था विशिष्ट धर्म से अलग-अलग दिखता है तत्र अंतकरणस्य आगे बौद्ध प्रत्ययानाम आविर्भाव तिरुभाव धर्मकत्वात् तद धर्मतयाव विलक्षणापि च भासते बौद्ध प्रत्ययानाम बुद्धेर इमे इति बुद्धि का परिणाम है ज्ञान जो ज्ञान है वृत्ति ज्ञान बुद्धि का परिणाम है बौद्ध प्रत्यय अंतकरण का परिणाम है बुद्धि अंतकरण है अंतकरण परिणाम से प्रत्यय को कहा गया बौद्ध बुद्धि का भी परिणाम बौद्ध प्रत्यय ज्ञान आविर्भाव तिरुभाव धर्म को तो वृत्ति का आविर्भाव होता है वृत्ति का तिरुभाव उत्पत्ति नाश होने से ज्ञान की उत्पत्ति नाश हुआ तद धर्म तयाव बुद्धि धर्म से बुद्धि में चिदाभास दिखता है व्यवहार करते चेतना चिदाभास का धर्म विलक्षण अपिचा भाषते तो भिन्न भिन्न लगता है ज्ञान तो परमार्थतः चैतन्य कैसा है जिसमें विशिष्ट अलग-अलग सब धर्म दिखते मनसोपि मन अंतकरण से मनसोपि मन अंतर्गतत्वात् सर्वांतर श्रुते अंतकरण है मन उसका भी मन उसके अंतर्गत होने से मन का भी अंतर्गत है मन का भी आत्मा है सर्वांतर सब के अंदर सर्वांतर श्रुति कहती है ये आत्मा सब के अंतर एक ही तो से स्वरूप सर्वांतर सा यह आत्मा ए आत्मा सर्वांतर यह आत्मा सर्वांतर है टीका में ननु विशेषण संबंधात स्वरूपे समारोपितो विशिष्ट भाति तस् मिथ्यात्वाद कथम आत्मत्व व्यवहारास्पदत्वं तत्र विशेषण संबंधात स्वरूपे समारोपित विशिष्ट भाति विशेषण के संबंध से चैतन्य स्वरूप अधिष्ठान में विशिष्ट आरोपित होता है विशेषण अंतकरण के संबंध से अंतकरण विशिष्ट आरोपित होगा शुद्ध में समारोपित विशिष्ट होगा जो आरोपित हो मिथ्या हो सकता है क्या तो होगा तो तस्य मिथ्यात्वात् आरोपित मिथ्या है जो मिथ्या है उसको आत्मा कैसे कहेंगे जो मिथ्या है अंतकरण विशिष्ट चेतन तो आरोपित हो गया आत्मा कैसे होगा कथम आत्म तो व्यवहार आस्पदतम व्यवहार का विषय होगा तत्र अंतर्गतेन नित्य विज्ञान स्वरूपेण आकाशवद अप्रचलित आत्मना अंतर्गर्भूतेन अंतर्गतेन नित्य विज्ञान स्वरूपेण उसके अंतर्गत नित्य विज्ञान स्वरूप है अधिष्ठान चैतन्य घड़ा में आकाश है बाहर आकाश है घटे के अंदर है क्या किंतु जल भर देंगे तो अंदर रहेगा जल भरने पर रहेगा मिट्टी भरेंगे तो रहेगा और लोहा भर देंगे तो पिघल करके आकाश रहता है इसी प्रकार जहाँ देह है अंतकण है अंतकण चिदावास्त है शुद्ध चेतन रहेगा शुद्ध चेतन सर्वव्यापक है अंतर्गतेन विज्ञान स्वरूपन विज्ञान स्वरूप नित्य शुद्ध स्वरूप अंतर्गत है आकाशवद अप्रचलित आत्मना आकाश का प्रचलन घड़ा को लेकर जाएंगे तो आकाश चले चलेगा साथ में हिलाएंगे तो आकाश हिलेगा दिखता है जो कंपन और प्रतिबिंब में दिखता है आकाश अप्रचलित है आकाश जैसा प्रचलित स्वरूप है आत्मा भी इस प्रकार आकाश के समान अप्रचलित आत्मा अप्रचलित स्वरूप जिसका अप्रचलित आत्मा ऐसे सप्रचलित आत्मा तेन वो स्वरूप जो नित्य विज्ञान उसका चलन नहीं होता है स्थिर है स्थानु है इसको अच्युत इसलिए कहते हैं स्वरूप से चित्त नहीं होता है निर्विशेष है कोई क्रिया नहीं जिस प्रकार आकाश में अंतर गर्भभूतेन और अंदर गर्भ स्वरूप हुआ बाह्य बुद्धि आदि है उससे विशिष्ट का अंतर्गत हुआ इसे उसके अंतर्गत है अंतर्भूत अंतर्गत है अंतर्गर्भभूतेन बाह्य बुद्धि आत्मा बुद्धि आत्मा बाह्य तद विलक्षण है अंतर्गर्भ से विलक्षण है अर्चे भी अग्नि ही अग्नि में प्रकाश बाहर दिखता है प्रत्येर आविर्भाव भाव धर्म के विज्ञान आभास रूपेर अनित्येर अनित्य विज्ञान आत्मा सुखी दुखी इति अभिभगतो लौकिकैर अतो अन्यो नित्य विज्ञान स्वरूपाद आत्मन व्याख्या ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि